सर्वव्यापक सर्वद्रष्टा परमेश्वर की भावना तीन बार ओम का उच्चारण श्वास भरिए ओ शिविरार्थी विराटी मान भाव आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए ध्यान साधना को हम दोनों समय अधिकाधिक करना चाहते हैं हमें ऐसी प्रतीति होती है कि ऐसा हम मानते हैं कि ध्यान उपासना ये आध्यात्मिक मार्ग का सबसे मुख्य कार्य है और चूंकि ये मुख्य है इसलिए इसको अधिक से अधिक करने की इच्छा हमारे में रहती है लेकिन उसको हम अधिक देर कर पाए ये नहीं हो पाता है कोई पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा एक घंटा और जो अधिक भी करते हैं दो घंटे तीन घंटे पांच घंटे लेकिन पूरे समय हम इसको नहीं कर पाते लेकिन मन में ऐसा बैठा है कि जितना ज्यादा मैं उपासना करूंगा उतनी अच्छी अध्यात्म में गति होगी और कुछ लोग इसके लिए विशेष समय भी निकालते हैं सप्ताह भर महीना एकांत में जहां केवल ध्यान साधना ही करते रहे अपेक्षा से वो अधिक कर लेते हैं किंतु जीवन की वास्तविकता यह है कि हम उसको सदा नहीं कर पाते नहीं कर सकते हमारे को बहुत से कार्य भी रहते हैं घर गृहस्थी के कार्य आजीविका भी कमानी है अन्य कार्य भी करने हैं परिवार के लिए भी समय लगाना है समाज के लिए राष्ट्र के लिए ऐसे ही और बहुत सारे कार्य जो केवल एकांत में जाते हैं कुछ समय के लिए सब कार्यों से हटकर उनके लिए भी हमेशा उपासना करते रहना जैसे बैठ के करते हैं ऐसे संभव नहीं हो पाता है अब उसकी जगह क्या करें तो अपनी दिनचर्या तो करते ही हैं सोना खाना पीना उसके अलावा जो समय बचा होता है उसमें क्या करें उसके लिए फिर स्वाध्याय की बात आती है आर्ष ग्रंथों का मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन ये करते हैं और योग दर्शन में भी व्यास भाष्य में इसकी तरफ संकेत दिया स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मावनित यानी योग और स्वाध्याय ध्यान और स्वाध्याय स्वाध्याय करें स्वाध्याय का मतलब यहां मैं ले रहा हूं मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन उन्हीं चीजों को पढ़ें जो हमारा लक्ष्य है और उस, उसके करते करते देर हो जाए तृप्ति हो जाए तो फिर ध्यान में बैठ जाए ध्यान करते करते कमी आए तो फिर स्वाध्याय करने लगे ये प्रक्रिया लेकिन ये भी वही कर सकते हैं जो अन्य कार्यों से अपने को अलग करके समय निकाल पाते हैं जो समाज में रहते हुए परिवार में रहते हुए भी योग साधना करना चाहते हैं उन्हें ये लगेगा कि मैं अन्य कार्य करता हूं तो ये चीजें छूट जाती हैं सुबह शाम कर लेते हैं उतने में ही संतोष कर लेते हैं लेकिन हमें उसको यदि वहां भी और बढ़ाना हो ध्यान में भी जो घंटा दो घंटा तीन घंटा करते हैं उसमें भी समान स्तर नहीं रह पाता है कुछ अच्छा स्तर बना कुछ देर अच्छा रहा और फिर वो कम हो जाता है बहुत कम बार ऐसा होगा या जो ऊंचे साधक हैं उनका होगा कि देर तक वो ऊंचा स्तर बना के रख सकें नहीं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है फिर नीचे आ जाता है फिर प्रयास करता है फिर थोड़ा होता है फिर नीचे आ जाता है और ये भी कुछ समय बाद में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आधा घंटा एक घंटा दो घंटे बाद में वो लगने लगेगा तो अब तो रुचि ही समाप्त हो गई इच्छा ही नहीं कर रही कुछ हो ही नहीं रहा है बैठे तो हैं लेकिन हो नहीं रहा है कुछ सार्थकता नहीं रही अब तो कई जने समय को पूरा करना है इसलिए बैठे रहते हैं चलो बैठने का तो अभ्यास हो रहा है लेकिन जो उपासना में मूल बात होनी चाहिए वो अंदर का भाव कम हो जाता है समाप्त हो जाता है लेकिन हम अपने आप को अधिक से अधिक इधर बना के रख सकें उसके लिए कुछ और चाहिए कुछ और करना होता है स्वाध्याय की भी पुस्तकें पढ़ते हैं बहुत सारी हैं प्रारंभ में नई नई किताबें आती रहती हैं बाद में कुल मिलाकर के वो सारा विषय हमारे द्वारा पढ़ लिया जाता है फिर दोबारा पढ़ते हैं फिर बार बार लगता है कि वही चीजें हो रही हैं तो एक सीमा में जाकर के स्वाध्याय भी यदि केवल स्वाध्याय तक है चिंतन मनन अधिक नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे लिए रुचिकर नहीं रह जाता कम हो जाता है हम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं यानी बंधन से छूटना चाहते हैं और बंधन का कारण हमें ये समझ में आता है कि हमारे कर्म है जैसे कर्म है उसके अनुसार हमें शरीर आदि मिलते हैं तो शरीर में आकर के ही हम बंधन को प्राप्त होते हैं और शरीर कर्मों के अनुसार मिलता है तो एक भावना बनती है कि कर्म हमारे बंधन का कारण है तो कर्मों से भी बचना चाहता है लेकिन बच सकते नहीं ऐसे में हमारे लिए उपाय ये बचता है जितना ध्यान कर सकें वो कर लेंगे जितना स्वाध्याय करते हैं वो कर लेंगे बाकी के समय में अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को सूक्ष्मता से देखना और उन कर्मों का विश्लेषण अंतर यात्रा में थोड़ा समय निकाल के बैठ के करना नए व्यक्ति खासतौर से उनको अधिक समझ में नहीं आता है ईश्वर का चिंतन कैसे बार बार करें अधिक करें वही वही कुछ शब्द वही मंत्र भिन्नता न होने से उनको अरुचि होने लगती है ऐसे में अपने जीवन का लक्ष्य मुक्ति बनाने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को कुछ इस तरह कर पाए कि वो बंधन का कारण न बने उसके लिए ये अंतर यात्रा का काम बहुत महत्वपूर्ण बनता है कर्म हम छोड़ नहीं सकते कर्म यदि सामान्य रूप से किए जाएंगे तो राग द्वेष से युक्त होंगे ही और बंधन के कारण बनेंगे ही कर्म बंधन का कारण तब नहीं बनेगा जब वो राग द्वेष से रहित होगा निष्काम होगा मुक्ति को लक्ष्य लेकर के किया गया होगा और इसका पता कैसे लगे हमारे को सामान्य रूप से हमने सोच लिया कि भाई मुक्ति मेरा लक्ष्य है मैं मुक्ति के लिए प्रयासरत हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि हमारे सारे कर्म केवल मुक्ति के लिए ही हो रहे हैं उसमें सांसारिक सुख राग और द्वेष अविद्या जुड़े ही रहते हैं वैसे कोई भी पूछेगा अरे जो मुक्ति लक्ष्य है मैं तो मुक्ति के लिए ही कर रहा हूं लेकिन जो कर्म मैं कर रहा हूं वो मुक्ति में सहायक है या बाधक है मुक्ति के लिए ये करना आवश्यक है या नहीं है ये सोचना बहुत अनिवार्य हमारे कर्म इतने विविध होते हैं अलग अलग लोगों से मिलना अलग अलग परिस्थिति उसमें हमारी नवीनता और रुचि बनी रहती है और हर स्थिति में हम अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे होते हैं भिन्नता होती है तो जो कुछ अधिक समय देना चाहते हो अध्यात्म के लिए उपासना और स्वाध्याय करने के बाद में भी जो समय बचता हो कि अब क्या करें अथवा जितना समय है उसमें से कुछ समय निकालें इस अंतर यात्रा के अंतर यात्रा का मतलब अपने मन के अंदर को देखना मन के विचारों को देखना और वो अपने जीवन की घटनाओं से संबंधित होगा आज की आसपास की घटनाओं को लेते हुए होगा और वो घटनाएं नई नई होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और उसमें हम रुचि पूर्वक लग सकते हैं उसमें इस प्रकार की नए व्यक्तियों को ऊब नहीं होती है अरुचि नहीं होती है रुचि बनी रहती है वो हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है घटना हुई कर्म कर रहे थे तब भी हमने ध्यान रखा और बाद में भी फिर बैठे कोई विशेष घटना हो गई राग और द्वेष की अब फिर हम बैठ गए और उस पर हम विचार कर रहे हैं ऐसा कैसे हो गया जिसको मैं गलत मानता था फिर भी मैंने क्यों कर लिया जो घटना घटी विपरीत बात हुई उसका प्रभाव मेरे पे कितना रहा इत्यादि जो सारा विश्लेषण है इत्यादि जो सारी बातें हैं वो हम तभी अच्छी तरह कर सकते हैं जब थोड़ा समय एकांत के इस चिंतन के लिए निकालें उपासना को हम परमात्मा से जोड़ते हैं परमात्मा की निकटता लेकिन उसके बाद भी उपासना के फल में महर्षि ने ये लिखा कि जिससे कि मन आदि पदार्थों का अंतकरण का ठीक प्रकार से ज्ञान हो सके तो प्रातःकाल सायकाल की संध्या भी है उसमें भी मन का मन इत्यादि आंतरिक पदार्थों का साक्षात्कार हो सके उसको हम ठीक तरह से जान सकें अब मन का साक्षात्कार क्या होना है कोई उसका आकार प्रकार रंग रूप ये तो कुछ सुनने में नहीं आता है किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष करके बताया वो सामान्य बात है अगर होता भी है तो वो आगे हो जाएगा मन के साक्षात्कार मन का प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि हम मन के विचारों को जाने कब कैसे विचार उठते हैं इसको हम अच्छी तरह से समझें मन की कार्य प्रणाली को समझें उसके साथ आत्मा को जोड़ते हुए कि क्या होता है तो मेरी क्या इच्छा करती है क्या होता है तो मेरी क्या अनिच्छा करती है कब मैं प्रयत्न करता हूं कैसा करता हूं किन छोटी छोटी बातों का मेरे पर प्रभाव पड़ रहा है वो शांति के रूप में हो अशांति के रूप में हो सुख के रूप में हो दुख के रूप में हो कुछ न कुछ प्रभाव हमारे पे आ रहा है और जब हम उसको सूक्ष्मता से देखते हैं कि इसमें इन विचारों में मेरे ऐषणाएं किस किस स्तर पे हैं या कौन सी पुत्रेषणा तो है वित्तेषणा है लोकेष्णा है कौन सी ऐषणा यहां काम कर रही है और कितनी काम कर रही है इसको जो व्यक्ति सूक्ष्मता से नहीं देख पाता है देखने के लिए समय नहीं देता है वो नहीं समझ सकता ये वो चीज है जिसको कोई पुस्तक हमें नहीं बता सकती ये वो चीज है जिसको कोई व्यक्ति हमें सिखा नहीं सकता पुस्तक भी मनुष्य के द्वारा लिखी है वो केवल इतना ही बताएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी कुछ घटनाएं बता देंगे लेकिन हमारे मन की स्थिति क्या चल रही है अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए मैं अभी कहां कहां अटक रहा हूं कौन कौन सी चीजें मेरी साफ हो गई हैं इसको देखने परखने वाले हम स्वयं ही होते हैं दूसरा व्यक्ति हमारे को कितना भी जाने कितना भी समझ ले कोई कितना भी बड़ा योगी हो वो उस सूक्ष्मता से सारी चीजों को नहीं बता सकता एक सामान्य मार्गदर्शन होता है और मन को सूक्ष्मता से समझे बिना इस मार्ग में सफलता व्यक्ति को नहीं मिल सकती और इसके लिए हमें समय देना होगा जब हम ध्यान उपासना कर रहे हैं वहां हमने परमात्मा का विषय बना लिया उसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं मन पे विशेष केंद्रित नहीं है हाँ सामान्य रूप से है कि भाई मन अब इधर चला गया बाहर का विषय उठा लिया वापस वहीं आते हैं ये इतना चलता है लेकिन मन को सूक्ष्मता से नहीं देख सकते ध्यान उपासना मन पर ही केंद्रित होंगे संयम करेंगे तो वहां पता लग सकता है यदि कोई अपनी ध्यान उपासना में भी मन को देखने पर लगाए समय तो वहां भी हो सकता है लेकिन जैसा सामान्यतया उपासना का स्वरूप प्रचलित है उसमें मन की गंभीरता को हम नहीं जान सकते स्थिति अच्छी बनेगी उससे हम फिर मन को जान सकते हैं अन्य समय इसी तरह से जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो वहां जो विषय चल रहा होता है पढ़ रहे होते हैं उससे संबंधित हमारा विचार चल रहा होता है जीवन क्या है मृत्यु क्या है कर्म फल क्या है यम नियम क्या है ईश्वर का स्वरूप क्या है सृष्टि की रचना कैसे हुई जो जो भी हमारे को आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है कर्तव्य कर्तव्य धर्म अधर्म के बारे में उस पर हम केंद्रित रहते हैं उसी पर विचार करते हैं मनन करते हैं लेकिन अपने मन को समझना सूक्ष्मता से वो तब तक संभव नहीं है जब तक हम स्वयं एकांत में बैठ करके अपने मन को न देखें अवलोकन ना करें तो इसको आप अंतरयात्रा का नाम दें या और कोई नाम दें जब भी बीच में समय मिले कार्यों को करते हुए कमरे में यात्रा करते हुए अच्छा तो यही है जैसे ध्यान करते हैं उस तरह की स्थिति बना के कहें तो हम अधिक सूक्ष्मता से कर पाएंगे नहीं तो अपने मन को पढ़ना समझना ये बहुत आवश्यक है और वो बहुत मनोरंजक भी है बहुत अच्छा भी लगता है बाहर जितना संसार है हमें बहुत अच्छा लगता है इतने व्यक्ति इतनी वस्तुएं इतने प्रकृति के दृश्य घूमने फिरने खाने पीने की चीजें सब देखना घूमना हमारे को कितना अच्छा लगता है ये संसार बहुत बड़ा लगता है लेकिन हमारे अंदर का विचारों का संसार इससे भी बड़ा और इससे भी अधिक विचित्रता वाला है बाहर भी बहुत विविधता विचित्रता विचित्रता है भिन्नता है लेकिन चूंकि विचारों की संख्या अधिक है विचारों के प्रकार बहुत अधिक हैं इसलिए उनको अगर हम सूक्ष्मता से देख रहे हैं तो अंदर बहुत कुछ बहुत कुछ हमारे सोचने समझने के लिए जिस प्रकार से वैज्ञानिक प्रकृति को देख करके समझ करके यहां ऐसा होता है यहां ऐसा होता है ये समझ करके फिर प्रकृति को नियंत्रित कर लेते हैं यहां ऐसा होता है यहां ऐसा कर देंगे तो जो इच्छित फल है वो प्राप्त कर सकते हैं ऐसे यंत्र बना लेते हैं ऐसी औषधियां बना लेते हैं उस तरह से प्रकृति में वायु में जल में व्यवहार कर पाते हैं उनको समझ करके हम वस्तुओं को जितना अधिक अच्छी तरह समझते हैं उतना अच्छा हम उनका उपयोग कर पाते हैं क्योंकि ज्ञान के बाद में हमारे अंदर उसको नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है हमें समझ बन जाती है घोड़े का स्वभाव क्या है वो कैसे नियंत्रित किया जाता है सांप कैसे नियंत्रित किया जाता है उसको यदि हमने समझ लिया तो हम नियंत्रित कर सकते हैं आसानी से अगर हमने नहीं समझा है तो हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो ये बात सांसारिक भौतिक वस्तुओं पे लगती है अन्य प्राणियों पे लगती है और मनुष्यों पे भी लगती है हम दूसरे व्यक्तियों को जितना अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमें पता है कि इस व्यक्ति को अनुकूल बनाने या प्रतिकूल बनाने में ये ये चीजें हैं हम अधिक नियंत्रित रूप से कार्य कर पाते हैं ऐसा का ऐसा अपने मन के बारे में अब योग और अध्यात्म साधना यही तो है योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों को रोकना नियंत्रित करना एकाग्र करना मन को ठीक तरह समझे बिना ये नहीं हो सकते पूरी तरह नहीं हो सकती मन को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय यही है ज्ञान के स्तर पर ध्यान की एकाग्र करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं यहां भी आपको बताई जा रही हैं श्वास का उपाय है धारणा है अलग अलग केंद्रों पर ध्यान है अलग अलग मंत्र हैं अलग अलग धुने हैं बैठने के अलग अलग तरीके हैं ये सब बातें बहुत स्थूल हैं मन को एकाग्र करने के लिए बहुत थोड़ी सहायक है बाहर से इन सब चीजों को हमने कर लिया लेकिन मन अंदर से समझ में नहीं आया हुआ है तो वही समस्या है जो कि प्राय साधक साधिकाएं कहते हैं कि हमने ये सब किया लेकिन मन नहीं मानता मन नहीं रुकता मन में बाहर का विषय आता है योग दर्शन में जो उपाय बताए अभ्यास और वैराग्य अभ्यास भी जरूरी है और वैराग्य भी जरूरी है और वैराग्य ज्ञान से आता है समझ से आता है बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता एक ज्ञान है प्रकृति का उससे मिलने वाले सुख दुख का परमात्मा का उस ज्ञान से हम प्राप्त उस ज्ञान को प्राप्त करके हम प्रकृति से हटते हैं और परमात्मा की तरफ जाते हैं उस ज्ञान से एक वैराग्य आता है और उससे भी एकाग्रता होती है लेकिन मन को स्वयं को भी तो जानना आवश्यक है योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा वहां पर चित्त की भूमिया है क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध और उसके लक्षण भी दिए गए उनसे हमें पता लगता है हमारी मन की कौन सी भूमि चल रही है और ये तभी पता लगेगा जब हम अधिक से अधिक जितना हो सके शांत एकांत बैठ करके और अपने आप को देख पाए मेरी प्रवृत्ति क्या चल रही है अंदर विचार क्या चल रहा है और उसको समझ करके और हम अपेक्षाकृत बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते कठिन तो है यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमें असंभव लगेगा मन को नियंत्रित करना असंभव लगेगा हो ही नहीं सकता ये कर लिया वो कर लिया मेरा तो रुक नहीं पा रहा है होता होगा योगियों का या औरों का मेरा तो नहीं हो पा रहा है इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है व्यक्ति प्रयत्न किए उसने शिविर किए स्वाध्याय किया दिनचर्या की आहार विहार बदला फिर भी नहीं हो पाता है तो मेरे से तो नहीं हो पाता उसका कारण यह है कि मन को ठीक तरह से नहीं समझाया दिन भर मन को देखने की बात है साधकों के लिए तो सूक्ष्मता से बोलते करते अंदर क्या स्थिति चल रही है किस तरफ झुकाव है किस ऐसा की तरफ जा रहा हूं मैं ये साथ ही साथ देखा जाता है लेकिन ये एकदम संभव नहीं है स्थूल रूप से कुछ पता लग जाता है लेकिन जिस सूक्ष्मता से चाहिए निरीक्षण चाहिए वो सामान्यतः चलते फिरते नहीं होता है वो तब हो सकता है जब पहले हम एकांत में बैठ करके मन को पढ़ करके देखना सीख जाए बहुत प्रयास करके समझते समझते धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और फिर हम छोटे मोटे काम करते हुए भी उसको देख सकते हैं समझ सकते हैं तो ये अंतर यात्रा अपने मन की यात्रा अपने मन को देखना आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बहुत उपयोगी है आज थोड़ी देर बैठते हैं हम आप ध्यान की तरह से आसन लगा लीजिए नेत्रों को बंद कर लीजिए धीमा लंबा श्वास शरीर से भिन्न में आत्मा जो इस शरीर में यात्रा कर रहा हूं सर्वव्यापक सर्वोच्च परमात्मा की साक्षी में निगरानी में सतत विद्यमान एक बार ओम का उच्चारण करेंगे प्रभु से प्रार्थना श्वास प्रिय ओ अंतर्मुखी स्थिति अपने जीवन के किन्हीं कर्मों को स्मरण करते हुए अपने व्यापारों को देखते हुए ये विचार कीजिए कि ये कर्म मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है अथवा नहीं है केवल इस एक बिंदु पर केंद्रित रहिए अपने अपने विविध कर्मों को क्रमशः सुबह से शाम तक ऐसे कुछ देखिए बस ये प्रश्न और निर्णय करते चलिए क्या ये मेरी मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है वो हेतु कारण साथ में रहेगा आवश्यक नहीं है तो क्यों आवश्यक नहीं है ये विचार रहेगा अपने घर के कार्य अथवा अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य अथवा अपनी समाज से संबंधित कार्य जो भी हम विचारना चाहें एक एक करके अपना अपना चिंतन कीजिए नेत्रों को बंद रखिए और फिर अंतर्मुखी रहते हुए स्मृति के आधार पर निरीक्षण कीजिए अंतर यात्रा एक घटना का निश्चय हो जाता है तो दूसरी ले लीजिए तीसरी ले लीजिए एक एक करके छोटी बड़ी क्रियाओं को विचारते तो चले खाना पीना पहनना ओढ़ना मिलना जुलना जो भी कार्य करते हैं उन सब पर यह विचार किया जा सकता है अब इस विचार को समापन की ओर लीजिए ओम का उच्चारण श्वास करें ओ खोल लीजिए जब भी हम इस प्रकार से अपने को देखते हैं तो हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा स्पष्ट पता लगेगा कि ये चीज मुक्ति में सहायक है और ये मुक्ति में बाधक है अथवा ये अनावश्यक है हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती रहती हैं प्रतिदिन जो भी होता है उन विशेष घटनाओं पर हम विचार तो करते ही हैं चाहे लाभ की घटना हो चाहे हानि की घटना हो लेकिन सामान्यतया हमारा विचार यहां तक सीमित रहता है कि इससे धन की दृष्टि से लाभ हुआ हानि हुई स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ हुआ हानि हुई परिवार की दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से यश की दृष्टि से हम इतने तक इसको सीमित रखते हैं प्राय करके और इन पे भी वही अच्छी तरह कर पाते हैं जो ध्यान देते हैं नहीं तो इसको भी हम ठीक तरह से नहीं कर पाते लेकिन इन सबको करते हुए भी इसके साथ साथ हमें एक बिंदु ये जोड़ना है कि मुक्ति की दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से ये घटना ये कार्य ये वस्तु मेरे लिए हितकर हुआ या अहितकर हुआ अभी हम अपना अपने शरीर का अपने परिवार का अपने समाज और राष्ट्र का हित अहित देखते हुए चिंतन करते हैं लेकिन अगर हम इतने तक ही सीमित रहे तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमने शुभ कार्य किया पुण्य कार्य किया लेकिन ये एक धार्मिक व्यक्ति जितना कार्य होगा पर उसके साथ जो हमारे राग और द्वेष जुड़े हुए हैं और वो मुक्ति के लिए उचित हैं अनुचित हैं ये हम नहीं देख पाएंगे अब जब हमें आध्यात्मिक जीवन को जीना है उस यात्रा को करना है ये बिंदु भी साथ में जुड़ना चाहिए कार्यों को करते हुए अथवा अलग से एकांत में बैठ के जैसा जितना जितना हम अधिक कर पाए उतना हमारे इस मार्ग के लिए अच्छा है और आप लोग जो इसको करते हैं उनको अनुभव में होगा ही और जो इसको करेंगे उसके प्रभाव को शीघ्र ही अनुभव करने लगेंगे उसे एक विशेष समझ स्पष्टता विश्वास अपने ऊपर आएगा और रास्ता बहुत सरल हो जाएगा और फिर ऐसी स्थिति आएगी कि हमें अधिक किसी से पूछने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी हर चीज हमारे को स्पष्ट होगी बहुत कम चीजें होंगी जो हम नहीं कर पा रहे तो विद्वानों से किसी से साधक से पूछ लेंगे नहीं तो सब कुछ अपने आप खुलता चला जाएगा तो इस कक्षा का ये अंतिम हमारा सप्ताह था अंतर यात्रा का शिविर हमारा कल समाप्त हो जाएगा आप लोगों ने इस कक्षा में बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुना और आप लोगों ने कुछ न कुछ इसमें ग्रहण भी किया ही होगा कुछ विचार भी आपका बना होगा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए सभी के लिए आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त हो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं और आप सबने सुना समय दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद खूब तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ सभी को सादर अभिवादन मौन को बना के रखिएगा और यथा समय अगली कक्षा के लिए उपस्थित हो जाइएगा ओके